मैं हूँ डॉरी मुझे ना भूल लेने की बीमारी है हाँ। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है ओके ठीक है अब, अब हम दूसरे बच्चों की एक्टिंग करेंगे हाँ हाँ, डॉरी हेलो तुम हमारे साथ छुपा छुपी खेलोगी ओके ओके हम छिपेंगे और तुम दस तक गिनकर हमें ढूंढना ना ना डैडी नहीं मैं तो एक अच्छा मच्छा हूँ जो तुमसे दोस्ती करना चाहता है समझी ओके डैडी ना मैं कहा चलो दस तक गिनो एक दो तीन चार तो है मम्मी मैं खेलने डॉरी डॉरी डॉरी डॉरी पुत्र उल्टी गंगा है बेटा हमें उल्टी गंगा से दूर ही रहना है अच्छा मेरी सोनी वो गाना सीखा था याद है जब देखो उल्टी गंगा तो कहो कूद पड़ो ना ना कहो दूर रहो ओके फिर से ट्राई करते हैं जब देखो उल्टी गंगा तो कहो उल्टी गंगा देखो उल्टी गंगा देखो उल्टी गंगा देखो उल्टी गंगा देखो तो उल्टी गंगा देखो क्या मैं फिर से भूल ना, गई ना, ना, ना, ना, सुनी तू फिक्र कोई कर। बात नहीं पुत्र मैं आपको भूल गई तो आप मुझे तो नहीं भूलोगे ना ओ मेरी सोनी कभी नहीं, नहीं। डोरी हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और हमें पता है कि तुम भी हमें नहीं भूलोगी Thank you. तुमने सुना क्या सुना है पप्पू के पापा किसी ने हेलो बोला क्या हेलो वेलो कौन बोला शू खबर पर मुझे तो लगता है कि किसी ने बोला हेलो अरे पप्पू की मम्मी इधर तो मबलक मछली है पेली पेलो कोई भी बोल सकता है नहीं उधर क्या उधर किधर बरोबर क्या अरे पर क्या हाँ ओ हेलो हेलो अरे हेलो छोटी सी किकली है हेलो हेलो अरे गेंचो हाय मैं डोरी हूँ आप मेरी हेल्प करेंगे वाह डोरी तुम खो गई हो तुम्हारे मम्मी पापा क्या छे मुझे याद नहीं अरे वांधो नहीं ढूंढते हैं ये सारी मछली में कोई मम्मी पापा है हाय मैं हूँ डोरी आप मेरी हेल्प करेंगे क्या अब <laughs> दिख रहा तुमने अभी अभी यही तो बोला था हम्म। बोला था आई एम सॉरी मुझे भूलने की बीमारी है अरे भूलने की बीमारी छे ठीक है दिख रहा जरा एक सेकेंड इधर ही रुकना हाँ पप्पू के पापा पप्पू के पापा शो बेचारी खो गई है शो करिए मैंने शो खबर मैं क्या तो करना पड़ेगा मेरा मतलब दरिया बड़ा है पता नहीं याददाश्त भी नहीं है किसकी याददाश्त नहीं है तुम्हारी याददाश्त का ठिकाना नहीं मैं तो डोरी दिख रहा तुम हमारे साथ चली गई डोरी कोटा टाइम वेस्ट हो रहा है डोरी आखिरी बार कहाँ देखा था मजेदार किस्सा है पर भूल गई ओह स्वीटी वैसे तुम हमारे साथ चल सकती हो इतने प्यार से कभी किसी ने नहीं कहा कहा होगा पर अभी तो याद नहीं खैर थैंक्स पर <laughs> मैं किसी को ढूंढ रही हूँ हाँ, भूल गई भूल गई भूल गई हाँ मैं डॉरी हूँ नाम पसंद नहीं आया तो गोरी बुला लो वो भी नहीं तो गुड बाय जी मैं कुछ ढूंढ रही थी और मैं ओके समझ गई जी समझ गई डेट पे हो ऐश करो उम्मीद है जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए मुझे भी पर मैं ढूंढ क्या रही थी I'm sorry. सॉरी sorry. Uh, I'm sorry. Okay. ओके फिर मिलेंगे मुझे याद रखना और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी एक सफेद नाव मेरे बेटे को ले गई मेरा बेटा हेल्प करो प्लीज सॉरी आप आप ठीक है ले गए ले गए कोई नहीं नहीं वो उसे ले गए ले गए वो उसे सब ठीक हो नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक होगा वो उसे ले गए मुझे मुझे वो नाव ढूंढ के नाव हे मैंने वो नाव देखी है तुमने देखी है हाँ, हाँ, वो इस तरफ इस तरफ गई आओ मेरे पीछे थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सी बात है सो जाओ अभी सुबह नहीं हुई है सुनो मालिक बच गया अलार्म हो गई सुबह आप कहो जो कहना हम कुछ ढूंढ रहे थे ना नहीं मोको राइट लगता है जैसे कल ही की बात हो वैसे कल हुआ क्या था मुझे कुछ याद भी नहीं है खैर वैसे सफर का सबसे डरावना पल था जब उन चार शख्स का सामना जाने तीन शख्स ना ना मुन्ना पक्का चार शार्क्स थी पर पिछली बार आपने कहा था तीन बेटा हम में से सात समंदर पार कौन गया था बोलो नीमो गया तो? था जाहिर है हम समंदर पार इसे ढूंढने गए थे इसका मतलब <laughs> ये पहले गया था बात तो ऐसे <laughs> ये भी सही है आ गए लेट लतीफ तुम्हारी फील्ड ट्रिप छूटने वाली थी फील्ड ट्रिप स्कूल की पिकनिक आई लव इट हम कहां जा रहे हैं कोई बांगड़ू तुमने से बात नहीं की की थी ना डॉरी हां मिस्टर रे को आज बहुत सारी मछलियों का ध्यान रखना है तो मेरे ख्याल से अगर तुम आज क्लास के हम्म। साथ नहीं जाओगी तो सबके लिए अच्छा होगा ओ, पर क्यों नहीं नहीं मतलब वो कभी कभी तुम कुछ बातें भूल जाती हो ना हाँ, भूल जाती हूँ यही याद है हाँ, हाँ वही वही और मैं तुम्हें दोष नहीं देता पर इस वजह से तुम भटक हम्म। जाती हो ना और मिस्टर रे के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मतलब भटकती हुई मछलियों को ढूंढे साफ कहूँ तो उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं बेचारे पता है हद से ज्यादा काम करते हैं तो तुम समझ गई हाँ मैं समझ गई जी ओके गुड हम्म। वो चाहते हैं कि मैं क्लास की मॉनिटर बन जाऊँ नहीं ऐसा भी नहीं वाह वाह कितनी खुशी की बात है मैं कभी क्लास की मॉनिटर नहीं बनी हूँ मिस्टर रे मॉनिटर मुबारक हो ओ, हो, हो, आ जाओ बांगड़ू तो बच्चों सुनो बच्चों सुनो आज खास दिन है खास दिन है आज आज हम देखेंगे स्टिंग रे माइग्रेशन स्टिंग रे माइग्रेशन अच्छा कौन बताएगा माइग्रेशन क्या होता है <laughs> कोशिश करो ये तो आसान है तो सुनो माइग्रेशन का मतलब है वापस सो जाना हाँ। नहीं नहीं नहीं माइग्रेशन का मतलब है घर वापसी जहाँ से तुम आए हो जहाँ से आए हो चलो कौन बताएगा घर कहाँ है मेरा घर पत्थर के पास है मेरा घर यहाँ से तीन गुफा छोड़ के मेरा घर पे कायदा में है तुम्हारा घर कहाँ है डोरी मेरा आम, मुझे पता नहीं मेरी फैमिली वो कहाँ है क्या मैं हेल्प करूँ <laughs> sorry, क्या मैं फिर से भूल गई मुझे ना अगर तुम्हें भूलने की बीमारी है तो ये कैसे पता कि तुम्हारी फैमिली है Good question. सही सवाल अब देखो कुछ चीजें मुझे याद है क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि आ, मेरी कोई फैमिली तो होगी मतलब होगी मैं कहीं ना कहीं से तो आई हूँ राइट फैमिली सबकी होती है मुझे उनके नाम या फिर शक्ल सूरत याद नहीं और शायद मैं उनसे कभी मिल भी नहीं पाऊँ पर आ, हम किसकी बात कर रहे थे मम्मीज और डैडीज की मम्मीज और डैडीज राइट पर हम मम्मीज और डैडीज की क्यों बात कर रहे थे ओह ओह ये वो वाली क्लास है ओए होए कहाँ फंस गई मैं तुम लोग उसके लिए छोटे हो पर ओके देखो बच्चों जब मम्मी और डैडी एक दूसरे से आज इतना ही काफी है बंगड़ू तो चलो आ जाओ छोटे खोजियो क्योंकि घर वापसी का गाना गूंजने वाला है आ... वापसी घर वापसी सीखो क्या है घर वापसी कुदरत के चक्कर के अंदर घूमे सामान विज्ञान का कहाँ चले गए ये सब मैं तो यहाँ अकेली रह गई हूँ ये तब होता है जब तापमान बाईस डिग्री से गिरता है ओके बच्चों बाउंड्री से दूर रहो ओके नहीं तो तुमने सब बाउंड्री से दूर रहेंगे ओके उतनी दूर भी नहीं उतनी भी दूर नहीं चलो चलो वापस चलो चलो अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो चलो कान से सुनो स्टिंग रे यहाँ से गुजरेंगी रे यहाँ से गुजरेंगी तब हमें किस चीज से बच के रहना है किस से बचना है उल्टी गंगा से बिल्कुल सही बिल्कुल सही उल्टी उल्टी गंगा से क्योंकि इतने सारे पारों के फड़फड़ाने से बड़ी जोर की लहर बनेगी उल्टी गंगा बनेगी और फिर नजर घटी दुर्घटना घटी ये तो दिल की आवाज है नीमो हमारे अंदर की आवाज में इतना अपनापन होता है कि सुनना ही पड़ता है जैसे बचपन की लोरी बुला रही हो मुझे वो लोरी बुला रही है पानी आने दो नवरत्न बीच कैलिफोर्निया नवरत्न बीच कैलिफोर्निया मुझे कुछ याद है इसलिए <gasps> मुझे कुछ याद है मुझे सचमुच कुछ याद है एक जरूरी बात जरूरी बात कौन सी कौन सी बात है आ, पक्का नहीं मालूम पर फिर भी ऐसा लगा जैसे दिल की आवाज ठीक है थैंक यू मिस्टर रे याद करो फिर से डोरी गिरी मत करो डोरी याद क्यों नहीं आ ओ, ओ, क्या कुछ याद आया फिर भूल गई कुछ तो था एक नाम ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, एक नाम था एक नाम था नवरतन बीच कैलिफोर्निया हाँ। मेरी फैमिली हाँ, मेरी फैमिली याद आ गई मेरी की एक फैमिली है मुझे उन्हें ढूंढना होगा मालिक तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मालिक हेलो oh, ओए ओए ये कहाँ चले गए हेलो हाँ। डॉरी कहाँ गायब हो गए थे तुम गायब हो गई थी मेरी मम्मी डैडी मुझे याद आ गए कौन कौन याद आ गए वो याद आ गए मेरी मम्मी मेरे डैडी मेरी बिग फैमिली है उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ चलो चले नहीं, हमें जाना होगा नहीं, ये पागलपन है एग्जैक्टली कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो तुम वो वो वहाँ वो नीलम बीच कानपुर नहीं नवरत्न बीच कैलिफोर्निया हाँ नहीं डॉरी कैलिफोर्निया समुद्र के पार बहुत दूर है तो फिर जल्दी चला जाइए ऐसी क्या बात है कि जब भी हम यहाँ आते हैं हम में से किसी न किसी को समुद्र पार करना होता है क्या हम यहाँ से साइट सिंग नहीं कर सकते मुझे अपने मम्मी डैडी से मिलना और तुम्हें साइट सिंग सोच रही है नहीं नहीं हम एक बार समुद्र घूम चुके हैं वो किस्सा खत्म हो गया है डॉरी हाँ। घूमना घामना बार बार नहीं होता एक ही बार होता है क्यों नहीं समझ रही हाँ, याद आ रही है मुझे उनकी याद आ रही है बस एक बार मिलना है उनसे मुझे इस कमी का एहसास नहीं था तुम जानते हो किसी को मस करना क्या होता है हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं अब ये कभी नहीं भूलना चाहती कि कहीं ना कहीं मेरी भी फैमिली है प्लीज मालिक मैं उन्हें अकेले नहीं ढूंढ सकती हूं मैं भूल जाऊंगी उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज हाँ डैडी आप तो समंदर पार जाने के एक्सपर्ट हो है ना नहीं और मैं एक एक्सपर्ट को जानता हूँ नहीं उल्टी उल्टी होने वाली है ये कैलिफोर्निया का करंट है मैन वाटर का अंदर हाईवे कभी नीचे कभी ऊपर हे डूड वॉमिट करने का तो वाना नहीं बट पीछू का सीट पे बैठने का और लंबा फेंकने का हम उसको मछली का राइट एम राइट फॉर हम सब मेरे मम्मी डैडी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं बीच बीच कैलिफोर्निया वही तो मम्मी डैडी को कैसे ढूंढेंगे उनको उनका शक्ल बकल याद याद करने का खेल मेरे लिए थोड़ा नया है पर मुझे लगता है कि उनकी कलर स्कीम पूरी ब्लू थी और थोड़ी येलो और वो भी कैसे वैसे भी मैं उन्हें देखते ही पहचान जाऊंगी आखिर मेरी फैमिली है जी वैसे समंदर पार करने जैसा काम जिंदगी में एक ही दफा करना चाहिए बार बार बीच कैलिफोर्निया आने वाला है आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। धक्का मुक्की मत करो नी वो। खाना डालते रहना डाल चुका वो खा भी रहे ओ ये जगह जानी पहचानी है मम्मी डैडी डॉरी डॉरी डॉरी रुको मम्मी डैडी एक सेकंड चुप हो जाओ क्या लगता है तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे इंतजार में यहाँ घूमते तैरते मिल जाएंगे वो, वो, वो तो नहीं पता पर ढूंढते तो ऐसे ही है ना मम्मी डैडी और जोर से मम्मी डैडी वो क्या था एक मिनट ये, मैंने पहले भी सुना है याद आ रहा है किसी ने कहा था हाँ, शाबाश वो मई था एक मिनट पहले सुनिए आपने मेरे मम्मी डैडी को देखा है उनका नाम है जैनी और चार्ली जैनी और चार्ली क्या जैनी और क्या ये नाम है मेरे मम्मी डैडी के जैनी और चार्ली सॉरी रुको अरे पापा एक मिनट आराम से बैठ के सोच तो लो कि करना क्या है सॉरी इसका पेट्रोल खत्म नहीं होता चुप हो जाओ चुप इस तरह से अनजान जगह पर आकर जोर जोर से चिल्लाना ये अच्छी बात नहीं होती अच्छी बात को मारो बोली मुझे मम्मी डैडी के नाम याद आ गए डॉरी डॉरी डॉरी ये केकड़े यहीं के हैं और इनके सुच कहने की कोई न कोई वजह जरूर होगी कहीं ऐसा न हो आ वेल मुझे मार ऐसी वेल जिसकी एक बड़ी आंख लंबे हाथ और नुकीले दांत हो अब ये सब इतना डिटेल में नहीं पता पर हाँ ऐसे ही कुछ वैसे भी जबरदस्ती खतरा लेना अच्छी बात नहीं ओ बाप रे ओके गलती हो गई हम तो जा ही रहे थे देखिए अगर आप हमें छोड़ देंगे ना हाँ तो हम आपका पुतला बनवाएंगे उस पर हार चढ़वाएंगे अरे उसे म्यूजियम में बिल्कुल मत छोड़ना अब कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है अपने आप ही नाम याद आ हमें बस तैरते रहना है अब दली दूर तो नहीं है नहीं देखो अभी नहीं क्या हुआ प्लीज अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं नीमा नहीं नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं नीमा आई एम सॉरी आई एम सॉरी ओ जी ये क्या हुआ नीमा तुम ठीक हो मैंने कहा अभी नहीं बहुत झेल लिया तुम्हें जी अच्छा पर, पर, पर मैं सब ठीक कर दूंगी पक्का प्रॉमिस एम्बुलेंस बुला लो डॉरी पता है तुम क्या करो तुम हमसे दूर चली जाओ जाओ वहां जाके इंतजार करो और भूल जाओ सब कुछ भूलना ही तो अच्छे से आता है तुम्हें सच कहा मैं भी ना एक नंबर की झल्ली फैमिली को ढूंढूंगी मेरे पास की बात ही नहीं सॉरी मैं सब ठीक कर दूंगी मैं मदद लेके आती हूँ ठीक है मैं इतना तो कर ही सकती हूँ सब ठीक हो जाएगा नीमो हेलो कोई है हेलो कोई है हेलो कोई है हेलो हेलो मैं हूँ सुलोचना सरकार हाय सुलोचना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए हमारे साथ आइए वाजी वाह आज हम प्रशांत महासागर और उसके भीतर जुड़े अद्भुत रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे ये देखिए सुलोचना एकदम सुलोचना सरकार कहा हो तुम टॉरी तुम यहाँ हो मैं मदद ले आई सुलोचना सरकार बताएगी कि हम कहाँ संभल के देखो कैसे समुद्री जीवों की इज्जत कब होगी मार नहीं फिर से नहीं चलो अंदर ले जाकर इसकी जांच करते हैं हम तुम्हें ढूंढ लेंगे मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है हमारे लिए प्रमुख है जान बचाई सेहत बनाई और रिहाई हेलो हेलो तुम मेरी हेल्प करोगे मैं? हेल्प करो खुद से शादी करोगी एक दिन इसी पकड़ से पकड़ कर मारूंगी हमें गलत पकड़े हैं डॉरी और ना मैं हैंक कितनी बीमार हो तुम बीमार मैं बीमार हूँ नहीं तो क्या अस्पताल घूमने आई हो oh, नो no, अभी मेरी उम्र क्या है oh, मेरी फैमिली right, को ज्यादा की मत करो ओ ओ बुरा हुआ क्या क्या क्या, हुआ क्या हुआ हां ये इस टैग का मतलब गड़बड़ ये उन मछलियों पर लगाते हैं जो यहाँ जिंदा नहीं रह सकती उन्हें हमेशा के लिए बेच दिया जाता है एक्वेरियम में क्लीवलैंड यहाँ की मछलियाँ वापस समंदर में जाती है क्लीवलैंड की मछलियाँ वापस नहीं आती है <gasps> क्लीवलैंड नहीं मैं क्लीवलैंड नहीं जा सकती मुझे तो वहां जाना है नवरत्न बीच कैलिफोर्निया और अपनी फैमिली को ढूंढना है यही तो है द मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट नवरत्न बीच कैलिफोर्निया तुम यही हो मतलब यही मेरा घर है मेरे पेरेंट्स यहाँ है मुझे उनके पास जाना है किस प्रदर्शन से आई हो तुम है मैं प्रदर्शन से हूँ कौन सा मुझे वहाँ जाना है हाँ ये काम तो बहुत मुश्किल है जलेबी मगर ना ये तो पागलपन हो चलेगा जी मुझे पागलपन से कोई प्रॉब्लम नहीं देखते ही समझ गया था वैसे एक तरीका है जिसे मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला सकता हूँ अगर तुम ये क्या बात है तुम मेरी फैमिली ढूंढने में हेल्प करोगे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया ना ना ना ना अगर तुम अपना टैग मुझे दे दो तो मैं क्लीवलैंड के ट्रक पे चला जाऊंगा और तुम यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढ सकती हो बस ये टैग मुझे दे दो कौन सा टैग <gasps> मेरे पंख में एक टैग है तुम्हें तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पंख पे टैग है ओए होए आई एम सॉरी मुझे मुझे ना भूलने की बीमारी है तुम्हें याद नहीं हमारी क्या बात हुई जरा भी नहीं हमारी हमारी क्या बात हुई थी तो मुझे टैग देने वाली थी पर मुझे ये टैग अच्छा लगता है तो, तो तुम्हें क्यों चाहिए ताकि मैं क्लीवलैंड जा पाऊं क्लीवलैंड हम्म वो तो अच्छी जगह है तुम वहां क्यों जाना चाहते हो अगर मैं यहां रहा तो मुझे वापस समंदर में छोड़ देंगे और मुझे खुले समंदर की याद आते ही कब कभी छूटती है कांच के डब्बे में अकेला रहना चाहता हूँ बस इतना ही चाहिए तुम ना टैग दे दो मुझे और मेरे टैग को छूना मत हाँ, देखो मैं यहाँ नौकरी नहीं करता मेरे पास कोई नक्शा नहीं जो नक्शा गुड आइडिया तो मुझे नक्शा ला दो मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ लूंगी वाह ये हुई ना बात ठीक है अगर मैं तुम्हारी फैमिली से मिला दूं तो क्या दूं? मेरे पास कुछ खास तो नहीं है पर आ, अगर मैं तुम्हें ये टैग दे दूं तो चलेगा पूरा यकीन है मैंने ऐसा ही कहा था वहाँ जाओ और सब भूल जाओ भूलना ही तो अच्छे से आता है तुम्हें हाँ, ऐसा कहा था ऐसा ही कहा था डॉरी तैर के ऊपर गई और कोई उसे उठा ठीक है बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं है मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था देखो अगर अगर मैंने ऐसा कहा जो यकीन है मैंने ऐसा नहीं कहा ये ये तो उसकी तारीफ हुई ना भूल जाओ भूलना तो अच्छे से आता है तुम्हें मतलब एक काम अच्छे से तो मेरी मेरी ओ सब मेरी गलती है सब मेरी गलती है मेरी वजह से वो किडनैप हो गई और हम उसे बाहर ले गए वो जगह है क्या कहीं रेस्टोरेंट तो नहीं जनाब जरा खामोश हो जाएंगे हाँ, आमा आपने हमारा हसीन खाब वही खाब जिसमें आपकी तशरीफ इस पत्थर पे हो दुरुस्त बहुत खूब हुजूर अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं बेटा लाइंस समुद्री शेर बड़े तेज शिकारी होते हैं कभी भी झपट सकते हैं ये झपट नहीं ये टपक सकते हैं अरे ये उनकी चाल है तुम बस मेरे पीछे रहो और मुझे बात करने दो माफ कीजिए हमें अपने दोस्त की फिक्र है ये कोई रेस्टोरेंट है क्या आ, हाँ। <laughs> जनाब ये रेस्टोरेंट नहीं आपकी दोस्त सलामत है सलामत है ये शफा खाना है सुलोचना बेगम करेंगी जान बचाई सेहत बनाई और रिहाई वो जल्दी आ जाएंगी हम भी मरीज थे दांत में दर्द दांत में सबका इलाज होने के बाद रवानगी ओह शुक्र है बेफिक्र हो जाइए जनाब अब आप दफा हो जाओ दफा हो जाओ दूध बोला खींच देंगे पत्थर बोला देंगे दफा दफा दफा दफा दफा दफा बिल्कुल बेफिक्र रहिए जनाब इस जन्नत का नाम है मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट नवरत्न बीच कैलिफोर्निया वो सही थी डॉल को बोलने के अलावा भी कुछ आता है डैड थैंक यू नीमो यही सुनना बाकी था अब हम अंदर कैसे जाएंगे तो हुजूर अस्पताल में जाना चाहते हैं जरूरी है हमारी दोस्त अंदर है लापता ठहरी हुई उसे उसे उसे पता भी नहीं कि क्या करना है ओह <laughs> हमें पता है पता है क्या कर रहे हैं मालूम नहीं पर लगता है मारे गए हम पहुंच गए क्या धीरे बोलो ओके ओके ओके अच्छा वो तो मिल गए हैंग लगता है जैसे यही किस्मत है अरे बाबा हजार बार कह चुका हूँ ये किस्मत नहीं आओ किस्मत कहो नियति कहो डेस्टिनी कहो तुम्हारी मर्जी जानता हूँ मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी डैडी से मिलने वाली हूँ मुझे तो उनकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं क्योंकि मुझे तो भूलने, भूलने की बीमारी है इलाज वाली पता है अब चुप रहो ओके मुझे चुपर चुपर और फालतू के सवाल पसंद है नमस्ते जी कैसे हो जी मैं ठीक हूँ जी बकवास कोई ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो हैंक uh। देखो वहाँ नक्शा है प्लान के मुताबिक तुम नक्शा पढ़ के अपनी मम्मी डैडी का पता लगाओगे और मैं क्लीवलैंड के एक्वेरियम में जाऊंगा समझी समझ गई वैसे मुझे करना क्या है क्या बोल रहे हो ऑक्टोपस फिर से वहाँ गया वाह कितने सारे प्रदर्शन है एक दिन में तो ये सब घूम भी नहीं सकते सच्ची ओके अच्छा ठीक है ठीक है सबको नजर रखने को कहना जानते हो ना आज ही हमें उस ऑक्टोपस को वापस समंदर में छोड़ना है ओ, हाँ मेरे भाई मैंने देख लिया है वो यहाँ पर नहीं है हाँ, तुम यहाँ हो जल्दी करो ओके ओके ठीक है ठीक ओके बाची बॉडी बच्चा बंटी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बच्चे बड़े बदमाश होते हैं तुम्हारे लिए मैं एक और हाथ की कुर्बानी नहीं देने वाला तुम्हारा एक हाथ कम है फिर तो तुम ऑक्टोपस नहीं सेप्टोपस हो मेरी याददाश्त कमजोर है पर गिनती नहीं <laughs> जल्दी करो ओके गहराई में गोता हे देखो सीपिया देखो सीपिया डैडी ये सीपी आपके लिए शाबाश डॉरी तुमने एक और ढूंढ ली मैंने ओ हाँ तुमने बहुत जल्दी सीख लिया तुमने डॉरी रेसिपियाँ अच्छी है <laughs> मैं यहाँ रहती हूँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है <laughs> बिल्कुल सही पुत्र क्या तुम एक और सीपी ढूंढ सकती हो जामुनी रंग मेरा फेवरेट है ओके <laughs> मम्मी मम्मी जामुनी सीपी जामुनी सीपी हे मेरे घर में जामुनी सीपी थी तो क्या यहाँ आधे से ज्यादा प्रदर्शनों में जामुनी सीपी ना ना ना तुम समझे नहीं मुझे मम्मी याद आ गई है जामुनी रंग की सीपी उनकी फेवरेट थी और उनकी हंसी बड़ी प्यारी थी और मेरे डैडी भी तो बहुत प्यारी थी यादाश हमारा भांडा फोड़ने की अभी भी लगता है ये डेस्टिनी है हैंक मुझे मम्मी डैडी को ढूंढना है उसने कैरल ली लगता है वो फरार ऑक्टोपस मिल गया ओवर खुश हो सॉरी इसे बुरा और क्या हो सकता है डेस्टिनी डेस्टिनी मिस्टर ऑक्टोपस मेरा दिल कहता है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए रुको सचिन इस पे लिखा डेस्टिनी और ये ना ना ना ना, ना। हमें उस पार्टी में जाना चाहिए मैं तुम्हारे साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा मैं ना। तो चल खबरदार उस खबरदार तो पार्टी में हाँ। हे दोस्तों मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही हूँ Good idea. Manigi acting. सॉरी आंखें फड़फड़ानी पड़ेंगी तुम लोग खुली कैसे रखते हो यार ah! अगली मेहमान कई सालों से यहाँ है और वो एक व्हील शार्क है उसका नाम है डेस्टिनी डेस्टिनी ध्यान से देखिएगा इसकी आंखें कमजोर हैं इसलिए आसपास की चीजें देखना और घूमना इसके लिए मुश्किल है ओह ये लो आ गई डेस्टिनी डेस्टिनी <gasps> तुम मछली हो तुम कौन हाय हेलो हेलो अच्छा मैं ही साथ चलती हूँ एक्सक्यूज मी यू की ये नीला गोरा बोला ये बोलता भी है तो मेरी हेल्प करोगी मेरी फैमिली खो गई है तुम्हारी फैमिली खो गई हाँ लंबी कहानी और सच कहूँ तो मुझे कुछ खास याद भी नहीं है पर हाँ, बेचारी याददाश्त की बात है सॉरी मैं अच्छी तैराक नहीं दिखाई जो नहीं देता मेरे हिसाब से तुम अच्छी तैराक हो मैंने किसी मछली को इतना अच्छा तैरते नहीं देखा थैंक यू वेलकम रुको फिर से बोलो वर्ल्ड का डोरी हाँ डोरी हाँ डोरी हाँ डोरी हम दोनों दोस्त थे ना डोरी पहचानो डेस्टिनी हूँ तुम तो मुझे जानती हो बिल्कुल बचपन में पाइप के बाहर बातें करते थे हम पाइप दोस्त थे सच में हाँ, तुम तो कितनी खूबसूरत हो तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ है हाँ तुम्हारा घर है खुला समंदर प्रदर्शन आ, मेरा घर खुला समंदर है तो मेरे मम्मी डैडी भी वही होंगे हमें जाना होगा मुझे वहाँ ले जाओगी आ, मेरे लिए ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है शोर कम करोगी प्लीज मेरे सर में हेडेक है आ, ये कौन है ये मेरा पड़ोसी बेली है हाँ। सर पर चोट लगी तब से दिमाग हो मेरी बुराई करियो ना डेस्टिनी सोचता है इसकी एको लोकेशन काम नहीं करती पर डॉक्टर्स कहते हैं भला चंगा है इसे कुछ नहीं हुआ हर बात सुन रहा हूँ मैं एको लोकेशन मतलब मतलब बेली को एक आवाज निकालनी है जिसकी गूंज से वो बहुत दूर तक देख सकता है पर इस गुम्बद को लगता है कि इससे होगा ही नहीं हो चुका कर ली मेरी बुराई देखो मैं एको लोकेशन नहीं कर सकता शुरू मत हो जाओ प्लीज सर पे चोट लगने के बाद आजकल सिग्नल वीक है देखो कितना सूज किया ये सूजन नहीं तुम्हारे सर का डिजाइन है तुम एक बलूगा हो एको लोकेशन ओ, ओ जैसे जैसे दुनिया का नंबर वन चश्मा क्या ये चश्मा क्या होता है हाँ? मतलब अगर तुम ऐसे करो तो बहुत कुछ देखने लगता है लेकिन मैं ये कैसे जानती हूँ ओह oh, इंटरेस्टिंग है अच्छा तो तुम यहाँ हो चलो अपना हिसाब हाँ। बराबर हाँ। मैंने तुम्हें नक्शे तक पहुँचाया अब तुम मुझे वो टैग रुको, रुको रुको मेरे मम्मी डैडी का पता चल गया उनका घर है आ, क्या कहते हैं उसे आ, काला बंदर खुला समंदर खुला समंदर खुला समंदर मैं जानता हूँ वो कहाँ है ये वही प्रदर्शन है ना जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं ठंड हो जा तुम अगर खुले समंदर की ओर जाना चाहो तो फिर एक रास्ता है पाइप से पाइप में से वाह पाइप में से हाँ पहले दो लेफ्ट फिर सीधा फिर आ गया घर ओ बहुत चक्कर है बहुत तुम्हें कुछ समझ में आया है सब नोट कर लिया ना हाँ, हाँ। माँ जी तो चलो मैं साथ नहीं आ सकता फिट नहीं होगा तुम्हें अकेले जाना होगा आम, आ, ये ये मैं अकेले कैसे अब ये चक्री चक्री काटती रह जाएगी चक्कर का या ठोकर तय कर लिया तो कर लिया मम्मी डैडी को ढूंढना है तो यही एक रास्ता है अपना टैग पर हैंक मैं मैं मैं अकेले नहीं जा सकती मैं मैं, मैं भटक जाऊंगी तुम्हारी प्रॉब्लम है टैग पर इस रास्ते से कैसे जाऊं आई एम सॉरी बट और कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं अब देखो ना कोई घबराना नहीं ठीक है पता है लाइफ में कुछ भी आसान नहीं क्यों है ना चार्ली हाँ सच कहा जेनी जो काम मुश्किल लगे ना डॉली पुत्र वो छोड़ देना चाहिए टॉली वो जोक था उसी बिना मजाक कर रहा था <laughs> ध्यान से देखिए इस जोकर को <laughs> एक बात याद रखना सोनी जहाँ चाह वहाँ रहा थैंक यू डैडी थैंक यू डैडी नहीं डैडी ने कहा जहाँ चाह वहाँ रहा क्या और कोई रास्ता नहीं है खुला समंदर खुला समंदर खुला समंदर खुला समंदर आ, मेरे हिसाब से वो वाली बिल्डिंग है आड़ी टेढ़ी और गोलाई वाली जैसे बेली का सर सर का क्या जा वहाँ जा जा वहाँ दोस्तों मेरे पीछे आओ मुझे पता है कैसे जाना बोरी बंदर खुला समंदर हाँ भाई सुनो सुनो पता है ना मैं उस तरफ नहीं तैर सकता इस तरह चीखने चिल्लाने से अंदर कैसे जाएंगे आप कर क्या रहे हैं आने का फरमान भेज रहे हैं फरमान भेज रहे किसे हाजरीन मिलिए बेकी से उड़के ना ना ना ना ना ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जरा बात सुनिए उससे मेरा शुक्रिया कहें आपकी दरिया दिली का जवाब नहीं सच पर क्या अंदर जाने का ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें तैरना शामिल हो क्योंकि तैरना ही तो हमारी खासियत है आपकी दोस्त उस शफा खाने में ही मिलेगी बीमार मछलियों का इलाज वही होता है और वहाँ जाने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है बेकी <laughs> हाय बेकी ओ ये बेकी नहीं ये तो बेकी बेकी है चोंच मारती है ये आपको पसंद करती है डैड बेकी जान इन दो शरीफ मेहमानों को शफा खाने जाना है इतना तो कर ही सकती हो ना रे बेका जान बेकी जी आ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना ओह ये तो मेरी बात ही नहीं समझती नजरें मिलेंगी तो दिल भी मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे दिल, दिल मिल जाएंगे, आँखों आंखों में आंखें डाल के करिए वो हाले दिल जान लेंगी आइए नजरें मिलाइए मिलाइए हमें ऐसा कोई प्लान सोचना पड़ेगा जिसमें हम पानी में रहे और और हमारा दिमाग भी ठिकाने पर रहे क्योंकि ये चिड़िया चिड़िया नहीं आपकी बुढ़िया है ठीक है डैडी इतने टाइम में तो डॉरी भी हमें बुला देगी आप ही ने कहा ये एक काम तो उसे आता है ठीक है आ, ओके उसकी आंख में देखना कौन सी आंख जो भी आपकी तरफ हो जनाब है की आ, की <laughs> ओके दिल तो मिल गए पर पर बैकी हमें लेके जाएगी कैसे ओ हाँ हम भूल गए जरल हाँ जरल आओ बरखुरदार आओ जरल मियाँ अपनी बाल्टी हमें दो हम तुम्हें पत्थर पर बिठाएंगे हाँ जरेल कसम से हाँ? आ जाओ मिया इधर लुड़को चलो तुम कर सकते हो बिल्कुल सही तशरीफ का टोकरा संभाल के बहुत बहुत शुक्रिया जरल मिया शाही पत्थर पे तशरीफ मुबारक हो सुकून मिला तुम्हें हो गया ना ये पागलपन है मैं हर बार पागलों की बातों में आकर क्यों आ जाता हूँ ओके जब मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम पानी का फवारा है डॉरी को इशारा तैयार हो जाओ अभी नहीं अभी जरा रुक जाओ अब डेस्टिनी ने इशारा नहीं किया है पता है क्या मैं नहीं जानता तुम ये क्यों कर रहे क्या मतलब इसने भेजा मारी सिर्फ अपनी जैसी कुछ मछलियाँ ढूंढने अगर मुझे भूलने की बीमारी होती तो मैं नीले समुद्र में डूब के सब भूल जाता मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती मुझे फैमिली चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं मैं किसी की फिक्र नहीं करना चाहता तुम खुशकिस्मत हो न यादें न तकलीफें <laughs> न यादें न तकलीफें नहीं जरा रुक जाओ अगर अभी नहीं जाना तो चुप रहो नहीं ओके रेडी स्टेडी और रुको स्टेडी हाँ, हाँ, रुको गो खा गए क्या तीन की गिनती गिनो मत सर हो चलो अभी कूदो कूदो कूदो वाह डेस्टिनी का देखा तो इशारा है वो चलो चलो इशारा हो गया हम्म। अब याद रखना डेस्टिनी ने बोला था खुला समंदर का बोर्ड पढ़ते रहना मुझे कुछ नहीं दिख रहा इसलिए बोर्ड पढ़ने का काम तुम्हारा समझी समझ गई खुला समंदर का बोर्ड देखना मैं बस दोहराती रहूंगी काम बन जाएगा खुला समंदर का बोर्ड खुला समंदर खुला समंदर राइट हम्म, लो खुला समंदर का बोर्ड खुला समंदर का बोर्ड खुला समंदर का बोर्ड खुला समंदर का बोर्ड और इंसानों से दूर रहना ओके खासकर बच्चों से मैं नहीं चाहता मुझे हाथ लगा मुझे डिस्टर्ब मत करो हाँ, बेचारी बच्ची मैं उठाती हूँ हाँ ये लो हम कहाँ हैं? हम किधर पहुँचे सॉरी ओके uh, हम वो बोर्ड uh, रू रू बेकी हमें कहीं पर भी उतार दो कोई प्रॉब्लम नहीं वो कंफ्यूज है नहीं वो उसे तो ये भी पता नहीं कि देख रहा कहाँ है बेकी बेकी क्या कर रही हो उलू उलू उलू ओके मैं कहीं जा रही थी पर सवाल है किस तरफ बोर्ड पढ़ सकती हो पढ़ रही हूँ यहीं से कहीं जाकर मिली मेरी फैमिली दुनिया का नंबर वन चश्मा इसे मैं जानती हूँ लेकिन कैसे जानती हूँ लगता है कुछ याद है हैंक हमें उस तरफ जाना है लेफ्ट चलो चलो चलो लेफ्ट बेकी आवाज वो सुन नहीं रही ठीक है ठीक है ठीक है नया प्लान हम लगे के करीब जाएंगे ताकि वो हमारी आवाज सुन सके मुझे नहीं लगता हमें बाल्टी को छूना चाहिए नीमो मेरे बिना बेटी खो जाएगी डैडी भरोसा कीजिए भरोसा उस पे ताकि वो भी हमें बिल्कुल भूल जाए मुझे है भरोसा है भरोसा वो कचरा खा रही है बेकी पगली बेकी चलो कम से कम पार्टी में फंसे तो नहीं रहे और ना ही अस्पताल के ऊपर शुरू हो रही है बाकी में भी ऑटर्स की शुक्रिया सलोचना सरकार hey, कौन दोस्ती करेगा ऑटर से दुनिया का नंबर वन चश्मा ढूंढ रही हूँ दुनिया का नंबर वन चश्मा ढूंढ रही हूँ ऑटर्स जादू की झप्पी आलो जादू की झप्पी मुझे भी चाहिए खुला समंदर नजदीक है क्या आ, लगता है मैंने बोर्ड में देखा था क्या कौन सा शायद पता नहीं दुनिया का नंबर वन चश्मा क्या तुम तो, तुम तो क्या बोल रही हो उस बोर्ड के पीछे क्यों गई वो आ, क्योंकि वो मुझे याद ना, ना ना ना ये प्लान नहीं था ठीक है बहुत हो तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया सुनो तो वो ट्रक कल सुबह निकलेगा मुझे उस ट्रक में जाना है तो अपना टैग दे दो मुझे वो बोर्ड मुझे याद आया तो? तो, तो, तो मुझे कुछ और भी याद आ रहा है लगता है मेरी यादाश्त सुधर रही है ना तुम्हारी यादाश्त बकवास है तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है शायद इसी यादाश्त की वजह से तुम्हारी फैमिली खो गई और देखो ये रोना धोना कम करो और टैग मुझे दे दो एक बात कहूँ तीन तीन दिल है फिर भी तुम दिल वाले नहीं तीन दिल तुम क्या बोल रही हो मेरे तीन दिल नहीं है हाँ बिल्कुल है नहीं है हाँ है नहीं है, है। चुप हो जाओ मुफ्त का ज्ञान ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं दो गलफड़ों में खून बचाने के लिए और एक शरीर के लिए जिसके तीन दिलों से तंबुरा नहीं होना चाहिए और किसी की प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मैंने उन्हें नहीं खोया Hank? Hank? Hank? हाथ हाँ नहीं नहीं मुझे हैंक को ढूंढना है हाथ थोनी क क हैंक हाथ हाथ हाथ हाथ प्लीज हेल्प करो मेरा दोस्त फ्रैंक गया तो वो सब है सब एक दो तीन चार पाँच छह सात सब वो छुपा हुआ है चलो यहाँ से बाहर चलते क्या कर रही हो तो, तो, तो, प्लान क्या है मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला हूँ ओके अच्छा प्लान है आई एम सॉरी आई एम सॉरी हैंक मेरी याददाश्त कमजोर है सुन ओ संभल के पुत्र ओहो जरा देख के चलो आई एम सॉरी डैडी सॉरी कुछ भी याद नहीं रहता ओ सोनी सोनी ऐसे दिल छोटा नहीं करते हम हम्म? जानती हो तुम्हें क्या करना है बस तैरते रहना है हाँ और शर्त लगा लो ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम हम ना आम, हम ना इसका मिलके गाना गाएंगे तैरते रहो बस तैरते रहो बस तैरते रहो बस तैरो तैरो तैरो अच्छा, अच्छा हो या बुरा हो बस तैरो तैरो बस तैरो बस तैरो बस तैरो सिखाया था हम साथ में गाया करते थे और मुझे लगा बस मैं यूँ ही गाती हूँ कौन सा गाना बहते रहो बस बहते रहो हाँ, हमें भी बस बहते रहना है क्या बिल्कुल नहीं ध्यान से सुनो आगे जान का खतरा है ना तुम ध्यान से सुनो तुम डरे हुए हो तुम हार नहीं मान सकते मेरे पीछे आओ बहते रहो बहते रहो मम्मी ने गाना मेरे लिए बताओ गाते गाते बाहर जाते मैं आई मम्मी मैं आई डैडी वापस मुड़ो वापस मुड़ो फोकस को ठीक है होता है होता है शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हैंक ओह हैंक तुम यहाँ हो वाह हम दोनों को तुमने निकाल ही दिया हाँ? हाँ मैंने ये किया मैंने हम दोनों को वहाँ से निकाल लिया वैसे फंसाने की वजह भी तुम थी लेकिन अगर तुम नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते एको लोकेशन हाँ एको लोकेशन दुनिया का नंबर वन चश्मा हमने ढूंढ लिया ना ना ना तुमने वो ढूंढ लिया स्वागत है खुले समंदर में आपने उसकी तुम बेकी की बात नहीं कर रहे हो है ना याद आ रही है मुझे भी सच कहूँ तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है हमारी हालत देखिए उसे हमारी फिक्र होगी वैसे वो यहाँ होती तो निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेती मालूम नहीं वो ये कैसे कर लेती उसे खुद पता नहीं डैडी बस वो कर लेती है हाँ, अच्छा तो हम कुछ सोचते हैं डॉरी क्या करती है हाँ डॉरी क्या करती हाँ चोरी होती तो क्या करती पहले वो प्रॉब्लम को पूरी तरह समझती फिर सोचती फिर सबसे बेहतर आइडिया यूज करती डैड ये चोरी का नहीं आपका तरीका है हाँ मैं तो ऐसे ही करता पर वो जरा भी नहीं सोचती वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ती और काम बन ही जाता खुशी हुई मुझसे मिलकर खुशी हुई आपसे भी मिलकर खुशी हुई इतने सालों से मुझसे किसी ने बात नहीं की सालों से ओह खैर हम भी रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें भी जाना है ऐसे कैसे भाई साहब अरे अभी तो ले हो जरा वो बातें करो अपने दुख दर्द बताते जाओ जरूर बताता लेकिन मुझे और मेरे बेटे को अस्पताल जाना है बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा वो तो है मोती जैसा मो मेरे पास चार चमचमाते मोती थे अच्छा कमाल है पर... एक एक करके सारे मोती चले गए और बस ये एक ही रह गया है मेरे पास अब मुझसे कोई बात नहीं करता मैं बहुत ही अकेला हूँ मेरे मोती आप क्या इस खुले समंदर की दुनिया के अद्भुत रहस्यों को साथ में जाने ओके okay, मेरे पीछे आओ तुम एक ग्लास में हो ओके okay, फिर मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं <laughs> मुफ्त का ज्ञान darkness. तो हमारा साथ यहीं तक था जलेबी अब मुझे ट्रक पे जाना है रुको रुको मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ <laughs> टैग ये टैग हाँ कुछ कहूं लगता है तुम तो मुझे याद रहोगे आ, तुम तो मुझे एक चुटकी में भूल जाओगे जलेबी लेकिन मैं तुम्हें अपने तीनों दिलों में रखूंगा मेरे मम्मी डैडी वहां नीचे हैं तुम तैयार हो तैयार हूं मुझे भी यही लगता है हाँ। से भी ज्यादा बूढ़े हैं ओके बाय हाय क्या किसी का सालों पहले मेरे जैसा एक बच्चा खोया था अब याद नहीं कितने साल पहले पर ओके तुम जल्दी में ओहो जरा देख के चलो अगर तुम कभी भी खो गई तो सीपीओ से घर ढूंढ लेना देखो सीपीओ हाँ? कर रही हो पुत्र मेरे पास दोस्त तो नहीं मम्मी डैडी मम्मी की फेवरेट सीपियां मछलियों को अपनी पर्सनल प्रदर्शनी मिलेगी कल सुबह सुबह उन्हें ट्रक में भर के ले जाएंगे अच्छा ही होगा क्या ना मेरे मम्मी डैडी वापस अस्पताल चले गए उन्हें अक्वेरियम भेज रहे हैं पर, पर, पर मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ मुझे उन तक पहुँचना ही होगा उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ मत करो अस्पताल पहुँचना बहुत ही आसान है तुम्हें बस पाइप से जाना होगा ओह, ओह मैं नहीं कर सकती क्यों नहीं मैं बस चक्कर काटती रहूंगी और मैं मैं बिना हेल्प के कहीं नहीं पहुंच सकती हूँ अच्छा फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हाँ। ऐसे नहीं बोलते दिल जाना चाहती हो तो चले जाओ सब ठीक होगा क्या तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता पता है आ, पाइप में से बिल्कुल हनी दो लेफ्ट लेना और फिर एक राइट आसान है जाने नहीं दूंगा दीवार क्या फायदा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी अगर यहाँ नहीं कर पाई तो फिर खुले समंदर में कभी नहीं कर पाओगी अभी ध्यान लगाओ के दीवार मैं पाइप में गुम हो गई हूँ मेरे मम्मी डैडी अस्पताल में रुको डोरी बेली अपनी लोकेशन इस्तेमाल करो वो काम नहीं करती बहाने मत बनाओ और करो डोरी की तरह समझे नहीं मुझसे नहीं होगा अब बेली मत बनो चलो भी बेली अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा था हाँ? ध्यान लगाओ सूरी नहीं लग रहा है बेली ट्राई करता हूँ डॉरी हम यहाँ हैं आ रहा है आ रहा है क्या क्या कुछ बोलो भी कुछ लिखा शायद लिख रहा है हाँ भाई हाँ मैं अस्पताल देख सकता हूँ <laughs> कमाल कर दिया मैं सब कुछ देख सकता हूँ और तुम भी दिख रही हो उसे तो टेक्निकलर हो गई मैं दिख रहा हूँ कैसे देखेगी ये तो वन ओके डॉरी को बोलो लेफ्ट जाए लेफ्ट oh, जाओ लेफ्ट सीधा सीधा सीधा अब राइट राइट सर हल्का हो गया रुको क्यों और भी दिख रहा है जरा रुको जूमर करना पड़ेगा <gasps> ओ तेरी वो अकेली नहीं है क्या और क्या है? वो नहीं पता उसके पीछे आ रहा है ओह नो डोरी देरो दूसरी तरफ क्या किधर राइट राइट राइट ना मेरा राइट फोन ना सीधा उसी की तरफ जा रही है हाँ, डोरी पीछे मुड़ जाओ सही जा रही हो डोरी हमारी तरफ योर राइट क्या तुम जाती में राइट जाओ ना राइट नहीं नहीं तुम खा गया जिंदगी खा गया ठीक हो मुझे ढूंढ लिया पर मुझे अरे एक दुखी आत्मा मिल गई थी दिमाग खा गया हमने चुपके से अपना पीछा छुड़ाया और सीधे पाइप्स में आए और फिर तुम्हें ढूंढने लगे ओके क्या था ये जरा रुको मुझे इसका जवाब देना होगा सब ठीक है सॉरी किस लिए क्या ठीक हो यस डैडी आपने भी सुना ना चोरी वीर बादशाह चलती है सुना मैंने और डरावनी यादें भी याद आ रही हैं इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए चलो सर इस तरफ चलते हैं पीछे आओ घर जाने का वक्त हो रहा है रुको रुको रुको मेरे मम्मी डैडी यही है यही है तुम्हारे मम्मी डैडी मिल गए ना जी ना अभी नहीं मतलब अभी तक नहीं पर अम, जानती हूँ वो कहा है और ये नहीं जानती वहाँ जाऊँ कैसे बस इतना जानती हूँ हेल्प में आऊंगी और मैं चली जाऊंगी अब अस्पताल हाँ भाई ओ और एक सेप्टोपस मिला था सुपर सड़ू पर अंदर से बेहद प्यारा और वो मुझे प्रदर्शनी ले गया प्रदर्शनी डॉरी क्या मेरे मम्मी डैडी मुझसे मिलना चाहेंगे क्या वो क्यों नहीं मिलना चाहेंगे क्योंकि मेरी गलती थी डॉरी तुम्हारे मम्मी डैडी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे तुम्हें भी बहुत मिस किया होगा उन्होंने सच्ची डॉरी पता है हमने तुम्हें कैसे ढूंढा कोई नक्शा था या फिर ना कोई सुराग मिला ना किसी ने बताया ना जासूस ना या फिर मुझे नहीं नहीं हम बड़ी मुश्किल में थे अचानक नीमो ने कहा अब डॉरी क्या करती तुमने ऐसा क्यों कहा क्योंकि जब मैं तुमसे मिला मैंने वो सब किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पागलपन की हद तक शार्क से पंगा लेना और जेलीफिश पे कूदना अपने बेटे को ढूंढना ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ सच्ची तुम ऐसा सोचते हो शायद मैं भूल गई नहीं तुम नहीं भूली मैंने बताया ही नहीं और उसके लिए आई एम वेरी सॉरी भंडारी जिस तरह की तुम हो तुम अपने मम्मी डैडी को ढूंढने में जरूर कामयाब होगी और जब ये होगा तो तुम्हारे अपने मिल जाएंगे डैडी क्या इसका मतलब डॉरी हमारे साथ नहीं रहेगी हाँ नीमो नहीं रहेगी जल्दी करो क्लीवलैंड भी तो पहुंचना है संभल के मुड़ना क्या कहा ओके लगता हम पहुंच गए क्या ये अस्पताल है हाँ यही है हम अस्पताल पहुंच गए मेरी मम्मी तुम्हारे पास सबको इस क्लास में लाने के लिए नहीं तो फिर मैं चला क्लीवलैंड समझ गई समझ गई बिछड़े हुए मिल रहे हैं डैडी मेरे मम्मी डैडी कहाँ हैं डॉरी तुम सच में जेनी और चाली की बेटी हो हाँ मैं हूँ उनकी बेटी वो कहाँ हैं वो क्या है डॉरी तुम्हारे लापता होने के बाद उन्हें लगा तुम उन्हें लगा कि तुम अस्पताल चली गई होगी इसलिए वो तुम्हें कितना टाइम ले रही है और वो इसीलिए यहाँ आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए वो यही है पर कहाँ है जौहरी ये काफी पुरानी बात है हा? वो वापस नहीं आए ओह oh, नो no. देखो जौहरी जब मछलियाँ अस्पताल से वापस ना आए तो इसका मतलब है क्या डॉरी वो नहीं रहे वो नहीं रहे वो तो मिलना चाह आपको आपको यकीन है वो नहीं रहे डॉरी सुनो सब ठीक हो एक्वेरियम का ट्रक छूट रहा है आखिरी वार्निंग तुम ठीक हो मैंने देखा थी डोरी नहीं ना मेरी कोई फैमिली नहीं है नहीं डोरी ये सच नहीं है सच नहीं है नहीं है निकलने का टाइम है बाकी सब कहाँ है तुम्हारी नारंगी नमूने भी क्लीन हो जाए मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूँ आप मेरी हेल्प करेंगी मैंने उन्हें खो दिया है जरा खुल के बताओ तो अब नहीं कर सकती तो मैं भूल नहीं सकती क्या भूल गई कुछ कुछ जरूरी बात क्या क्या क्या बात थी वो क्या बात थी भूल गई मैं भूल गई भूल गई क्योंकि मुझे सिर्फ भूलना ही आता है भूलती रहती हूँ भूलती रहती हूँ भूलना अच्छे से आता है बस भूलना आता है मैं क्या करूँ मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं अब डॉरी क्या करती मैं तो आसपास ढूंढूंगी और आम, बस पानी है वहाँ और और घास का जंगल है यहाँ मैं यहाँ चलती हूँ ओके ओके अब क्या करूँ घास का जंगल सब एक जैसा है सब एक जैसा ही है सिवाय इस, इस पत्थर के यहाँ पे और थोड़ी सी रेत है रेत रेत नरम है रेत सॉफ्टी सॉफ्टी है घास के घास का जंगल और कुछ कुछ सीपियां इस तरफ मुझे मुझे सीपियां पसंद है सीपियां हेलो मैं हूँ डोरी आप है सच है मम्मी ये आप है हाँ, और डैडी आप भी हैं हाँ मेरी सोनी भूलने की बीमारी है माना कि मैं अब सो सॉरी इतने सालों से अपना इलाज कराना चाहती थी कर नहीं सकी पर कोशिश की कोशिश की पर मेरे दिमाग मेरे दिमाग में कोई बात टिकती ही नहीं और मैं मैं आपको भी भूल गई आई सो सॉरी सॉरी सॉरी खबरदार जो तुमने सॉरी कहा तो देखो देखो तुमने क्या किया क्या तुमने हमें ढूंढ लिया हाँ, बिल्कुल तुमने हमें ढूंढ लिया सोनी सोनी तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ इतने साल क्यों रुके क्योंकि हमें यकीन था कि तू हमें जरूर ढूंढ लेगी पर मुझे लगा आप लोग चले गए आप कैसे ढूंढने अस्पताल गए थे पर तुम वहाँ मिली ही नहीं और हमें पता था तुम पाइप में से ही गई होगी हाँ, पाइप में से बिल्कुल सही हाँ। कहा और हम भी गए और तब से हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा तुम <laughs> यहाँ वापस जरूर आओगी इसीलिए हर दिन हम बाहर जाकर छोड़ आते और तुमने ढूंढ लिया तुमने ढूंढ लिया ओ सोनी तुमने ढूंढ लिया और पता है तुमने कैसे ढूंढा क्योंकि तुमने याद किया अपनी निराली डोरी गिरी से याद किया तुमने मैंने ही याद किया अपनी डोरी गिरी से ओह सोनी सच्ची तो तुम इतने सालों से अकेली ही रही बेचारी मेरी परी आ, मैं अकेली नहीं रही हूँ मैं तो मालन और नीमो किसी ने डॉरी को जाते हुए देखा सच्ची अरे यार इतनी सारी आंखें या बटन ओ, आप हमारी हेल्प करोगे मैं हेल्प करूँ देखो देखो डोरी ओह शुक्र है देखा नहीं मो मुझे यकीन था वो रास्ता ढूंढ लेगी क्या अरे डॉरी कहा गई तुम्हारे साथ थी क्या I'm sorry. सॉरी साथ ही पर मैं पीछे रह गया और वो गायब हो गई क्या सब ठीक है चलो चले नहीं। पता है मुझे वेल भाषा आती है फिर भी वेल हमें निकल गई वेल अच्छा है ये मेरे सामने नहीं हुआ एक्चुअली मालिन को यकीन ही नहीं कि मुझे वेल भाषा आती है पर पता है क्या वो फिर भी मुझ पे भरोसा करता है मुझे मालिन अभी से ही पसंद हाँ फिर जैसे तैसे हमने नीमो को ढूंढा या उसने मुझे ढूंढा मुझे नहीं पता पर पता है क्या नीमो बेहद प्यारा है वो हमेशा मुझ पे भरोसा रखता है तो एक मिनट मैं ये जगह जानती हूँ हेलो मैं हूँ सुलोचना सर उधर हमारी साथ ये मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट है ओ, यही तो तुम पैदा हुई थी। तुम्हारे दोस्त वहाँ हैं हाँ हाँ वो वो कहीं फंस गए थे वो वो कहीं जा रहे थे ट्रक वो ट्रक में फंसे इसका मतलब मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी नहीं नहीं नहीं नहीं अब डॉली क्या करती है माना वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं लेकिन ये ट्रक रुकना आसान नहीं हाँ मम्मी ने ठीक कहा डॉली प्लीज प्लीज बस इतना मालूम है कि वो वो मुसीबत में है और और वो वो, वो मुसीबत में है मैंने अभी भी यही तो कहा था अब डॉरी मम्मी मालिन और नीमो से बच्चे दोस्त नहीं बल्कि मेरी फैमिली है और और मुझे उन्हें बचाना ही होगा जब मैं उन्हें मिली तो लगा कि ये नियति है और इसका मतलब अ, मैं मैं क्या बताऊं नियति से अ, नियति डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी मॉर्निंग डेस्टिनी ये डॉरी है कुछ गड़बड़ है मिल गई मुझे इंस्टीट्यूट के ठीक सामने है अरे कूदना होगा बहस करने का वक्त नहीं डॉरी डॉरी वो ट्रक तुम्हारे दोस्तों को लेकर जा रहा है ठीक है चलो चलते हैं एक हाँ। दो हाँ, नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा डेस्टिनी मेरे पास दुनिया का नंबर वन चश्मा है तुम्हारे पास दुनिया का नंबर वन चश्मा है मैं बनूंगा तुम्हारी दूरबीन मेरी दूरबीन अब ये पर ये, पर ये दीवारें समंदर में दीवारें नहीं होती नहीं होती ये तुम्हारी नियति है डेस्टिनी योगी तुमने पहले क्यों नहीं क्या? डेस्टिनी रुको ना उधर दीवार है दीवार डैडी ये मेरी पाइप दोस्त है डेस्टिनी हेलो कहो डोरी ये छोटे नीले गोरे तुम्हारे मम्मी डैडी हैं यूं की बिल्कुल तुम जैसे हैं हेलो मैं हूँ बेली मिसेस डोरी मिस्टर डोरी ये नहीं कहो oh, ना ओके ओके हमें जाना है उस ट्रक को रोकना है ओके कौन सा ट्रक बेली <gasps> हाँ सुनो ओहा मेरी सैटेलाइट आंख है मिल गया ट्रक साउथ की ओर हाईवे पर घूम होता नजर आ रहा है चलो चले हम उस ट्रक को रोकेंगे ये तो हमें देखना ही है हाँ हाँ दुरुस्त कहा मियाँ ये वाकई कमाल होगा ये क्या जरल अकल बेच आए क्या को बुरी आदत मत डालो जरल माकूल गुस्ताख really? मैं फिर भूल गई फिर से बताना यस मैडम आपके दोस्त अभी भी ट्रक में है नॉर्थ की और ब्रिज के पास ओ देखो प्यारे प्यारे ऑटोस का झुंड है वहाँ मुझे भी चाहिए ओ, oh! ah! ah! ओह, मुझे ट्रक दिख गया वो वहाँ है मुझे नहीं लगता हम उस पर पहुँच पाएंगे डोरी ओह काश ट्रैफिक रोकने का कोई तरीका होता ट्रैफिक को रोको ट्रैफिक को रोको सबको रोक दो लोगों को कुछ क्यूट सा दिखाओ तो वो रुक जाते हैं जो उन्हें पसंद हो कोई प्यारा साइटन <gasps> कोई प्यारा साइटन ओके मैं समझ गई क्या क्या समझ गई कहीं मैं भूल ना जाऊँ डेस्टिनी जब ट्रक ब्रिज पर पहुँचे तो मुझे उसके ऊपर फेंक देना समझ गई तुम सब मेरे पीछे आओ बाकी सब यहीं पर रुको एक मिनट एक मिनट डोरी सोनी फिर छोड़ के ना जा ठीक कहा तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा डोरी सोनी सोच सोच क्या होगा अगर पता नहीं तू मम्मी लंबे वक्त के लिए चली जाए तू और उलझ गई उलझ के भटक जाए तो आपको डर है की मैं खो जाऊंगी हाँ। मम्मी डैडी सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अगर मैं आपको भूल भी गई तो भी आपको ढूंढ लूंगी ओके थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा दूसरी तरफ जाना ओके ठीक है जाओ नहीं मत करना ओके जाओ जाओ अभी अभी तुम्हारे आइडिया की बारी ओके कौन सा आइडिया मुझे नहीं पता कैसे मुझे नहीं पता किस तरह से पर लगता है जरूर इस सब कुछ है पागल हो क्या तुम यहाँ कैसे डोरी मुझे लगा हम फिर नहीं मिलेंगे हाँ, मुझे भी मैंने भूलने की बहुत कोशिश की पर तुम्हें भूल नहीं पाई शायद अपनी इस फैमिली को मैंने बहुत मिस किया हाँ हम फैमिली हम्म। जानते हो मिस करना क्या होता है हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ oh. से बाहर निकलो ये तुम्हारा खाना नहीं ओए ओए गई अपनी सवारी पानी में जाओ ट्रैफिक खुल रहा है मुझको छोड़ दो मैं समाता हूँ ओरू ओरू बैकी बैकी वापस आओ हमें तुम्हारी मदद चाहिए बैकी डॉरी मेरे पीछे आओ ना रुको डॉरी पीछे छूट गई है ना ना बैकी रुको रुक जाओ हमें वापस आना होगा बैकी वापस चलो वापस चलो बेकी हमें खबर चला जॉनी कहाँ है तुम कौन हो जैनी मालिन शाली नीमो डोरी का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया वो ट्रक पे है बाकी डोरी को लाओ डोरी ओके जलेबी गुड बाय का टाइम हो गया नहीं क्या मतलब नहीं मेरा मतलब तुम क्लीवलैंड नहीं जा रहे हो तुम तो मेरे साथ समंदर में चल रहे हो क्यों मेरा प्लान बिगाड़ने पर तुली हो मेरी बात सुनो मेरी लाइफ का एक लक्ष्य है एक ना वो तुम मेरी बात सुनो क्या रखा है इन प्लान्स में मेरा कभी कोई प्लान नहीं था क्या मम्मी डैडी से बिछड़ना मेरा प्लान था नहीं क्या मालिन को ढूंढना मेरा प्लान था नहीं क्या हमारा मिलना भी कोई प्लान था रुको था क्या कह दिया या बाकी है नहीं कोई प्लान नहीं था वो इसलिए क्योंकि अच्छी चीजें इतफाक से होती हैं और यही है जिंदगी यानी अब से तो मेरे साथ समंदर में रहोगे किसी घिसे पिटे कांच के डब्बे में कुछ कहूँ बात अभी बाकी है मेरी एक दोस्त है सुलोचना जिसने मुझसे कहा की बेहतर जिंदगी के तीन आसान पड़ाव होते हैं जान बचाई सेहत बनाई और आम एक और चीज थी सही कहा तो क्या कहते हो मैं कहने नहीं वाला ओके फंस गए जल्दी गाइस मेरे पंख पे आओ दरवाजा खोलने की कोशिश जारी पर ताला लगा है चलो भी जॉरी तुम कर सकती हो कैसे नहीं कैसे नहीं दीवार दीवार दीवार कौन नहीं लग रहा है टॉरी सब खत्म ना कोई ना कोई तो रास्ता होगा टॉरी अब मेरी बात सुनो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है रास्ता होगा जहाँ जहाँ बाहर राह नहीं है डोरी कहा ना मैंने इस बार कोई रास्ता नहीं है अच्छा तो वो क्या है हो तेरी जहाँ जा वहाँ राह लंबी सांस लो जलेबी

और ट्रक चल रहा है शाबाश है सुनो मैं तुम्हें ट्रक चलाना नहीं सिखा रही और सिखा भी नहीं सकती और सिखाने का टाइम भी नहीं है पर क्या तुम थोड़ा तेज चला सकते हो कुछ नहीं दिख रहा है किस तरह जा रहे हैं ओए ओए ओए सारी कार्स लेफ्ट जा रही हैं तो, तो, तो तुम भी लेफ्ट ले लो हिलमन स्ट्रीट एशबी एवेन्यू पावेल फिल्म स्ट्रीट फिर से हाँ, फिर से फिल्म स्ट्रीट अरे लेफ्ट खत्म ही नहीं हो रहा है सिर्फ ये जाने की जरूरत है कि यहाँ आए कैसे फिर निकलने का रास्ता खुद ही मिल जाएगा जब पता चले मुझे भी पता देना किस्मती से ये याद ही नहीं कि यहाँ आए कैसे हे मैं उन्हें जानती हूँ हम इस तरफ से आए थे राइट पढ़ो ओके बॉस तुम्हारी नौकरी तो गई सीधे चलो सीधे लेफ्ट लेफ्ट ना ना ना राइट राइट राइट गुड ड्राइविंग हैंक अरे रास्ते पे ध्यान दो ओह आई एम सो सॉरी अब अब रास्ते से दो हो गए किस तरफ जाएं ah, समंदर समंदर हे एक नाव नाव के साथ मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पर किस तो- तरफ um, आ, ah, ना समंदर को जाती है तो राइट लो राइट तो राइट हमारे पास टाइम नहीं है जलेबी किस तरफ जाना है ओए होए ओके मैं पता कर लूंगी मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता पर कुछ तो याद आ जाएगा सीगल्स <gasps> हैंक उनके पीछे जाओ समंदर लेफ्ट में है जरा रुको नेटवर्क आ रहा है ओ देखिए क्या सब ठीक है ना ओ ओ पुलिस है पकड़े गए ओके हम ठीक है समंदर बिल्कुल सीधे जाकर तेज भगाओ ये हुई ना बात ओए होए ओए होए मतलब अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हैंक अगर मैं तुम्हें पागलपन करने को कहूँ तो करोगे पागलपन एनी टाइम तो तैयार हो कोई रास्ता नहीं बचा इन्हें मच्छी जेल हो जाएगी हम्म। रुको ओह नो पीछे हट जाओ सत्रा। I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see friendship. बनाई और रिहाई मैं हूं सुलोचना सरकार साथ आने का शुक्रिया एक दो तीन चार आम... रुको सर मैं गिन क्यों रही हूँ कहाँ सब ओए होए मुझे छोड़कर गए क्या नहीं ना ना ना ऐसा तो नहीं करेंगे ओके ठीक है ठीक है मैं पता कर सकती हूँ मैं अभी क्या कर रही थी मैं अपनी आ, मैं अपनी आंखें बंद करके मैं छुप रही थी ओके पर मैं क्यों छुप रही थी रुको ओ हाँ याद है पाँच सात तो बस रेडी या नहीं मैं आ गई हाँ ढूंढ लिया देख रहे हो oh। हाँ, हाँ, पकड़ लिया ठीक है नन्हे बच्चों ब्रेक खत्म अरे यार आ, हाँ, किसी ने मुझे नहीं ढूंढा आ जाओ आ जाओ टाइम खत्म चुनो मत मुझे क्लास शुरू करते हैं वापसी वापस कब आएंगे समझदार होगी तो कभी नहीं लौटेंगे लेकिन तब तक मैं हूँ तुम्हारा सब्स्टिट्यूट टीचर ओके मच्छो एकोलोकेशन के बारे में कौन पड़ेगा <laughs> ओके पुत्र मजे करो डैती रहो नीले पानी में हाँ ओके बाय मामी बाय डैडी तो मैं अभी घर जाऊंगा और घर जाकर चालों की सफाई करूंगा <laughs> डैडी तुम चलोगी मैं ओ मैं तो बाउंड्री पे जा रही हूँ ओके क्या बाउंड्री पे नहीं ये ये ये अच्छा आइडिया नहीं है, है। वहाँ से खूबसूरत नजारों को देखने का मौका मिलेगा बाय नजारों को ठीक है मजे करना तुम अकेले अकेले पर पर देखो खो बच जाना Dory, Dory, Dory. हाय मालिन ओह हाय हाय तुम ठीक हो परेशान लग रहे हो नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ शक्ल ही ऐसी है क्या हुआ वो मैं बस तुमने कर दिखाया ये तुमने कर दिखाया पुत्र हाँ क्या कर दिखाया सोनी तुम सीपीओ को ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई सच्ची बच्ची मैंने किया अपने आप किया हाँ। इसका मतलब पता है सोनी इसका मतलब तुम अगर ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकती हो डोरी पुत्र सच्ची मम्मी मैं खेलने जाऊं? बिल्कुल फटे। हाँ, कर दिखाया। हम्म। हम्म। नजारा वाकई खूबसूरत है 不能。 That's what you are. Unforgettable. unforgettable. Thinks that I am unforgettable too.

बस थोड़ा सा और ठीक है साथियों शाबाश फ्लो हमने कर दिखाया अब से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी समुद्री जीवों की इज्जत कब होगी God. Ah. <laughs>